विक्रांत को आज के दिन प्रमोशन मिलने के साथ ही पचास हजार रूपए का इनाम भी मिला था ऐसे में उसका आज का टास्क अच्छे से पूरा हुआ था अदृश्य शक्ति ने मैसेज के जरिए बताया कि उसका आज का सक्सेस रेट तिरानवे प्रतिशत तक का था इस सक्सेस रेट के चलते विक्रांत को आज फिर से एक खास टूल दिया गया था उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था पिछली बार की ही तरह इस खास जैकेट का इस्तेमाल विक्रांत किसी भी तरह के हथियार के अटैक से खुद को बचाने के लिए कर सकता था एक बार इस जैकेट को एक्टिवेट करने पर यह अगले तीस मिनट तक अपना असर दिखा सकता था ऐसे में यह जैकेट विक्रांत के लिए बहुत ही काम का था अब तक काफी रात हो चुकी थी सो विक्रांत को अगले दिन का कोडवर्ड भी मिल चुका था उसे अगले दिन के कोडवर्ड के रूप में चंद्रमा और आग शब्द मिला हुआ था चंद्रमा का अर्थ पैसे से था और आग का मतलब दोस्त से था वैसे विक्रांत अब तक काफी पैसा कमा चुका था उसने जब से इस जन्म में पुलिस की नौकरी शुरू की तब से उसने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं यहाँ तक कि उसे अपने महीने की तनख्वाह को हाथ में भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी पुलिस की नौकरी करते हुए शायद ही कभी किसी ने इतने पैसे कमाए होंगे खास बात यह है कि ये सभी पैसे ईमानदारी के हैं विक्रांत के पास अभी कितना भी पैसा हो लेकिन फिर भी अभी वो नैना के बराबर नहीं पहुंच सका है पैसे के मामले में नैना की बराबरी करने के लिए अभी विक्रांत को काफी कुछ करना पड़ेगा ये सब सोचते हुए विक्रांत को एहसास हुआ कि ऐसे नॉर्मली कमाई करते हुए तो वो कभी इतने पैसे नहीं कमा सकता कि नैना के बराबर पहुंच सके ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे और भी कुछ एक्स्ट्रा तरीका ढूंढना पड़ेगा साइड बाय साइड कोई बिजनेस करना पड़ेगा या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा विक्रांत इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसे नींद आ गई और फिर सुबह ठीक सात बजकर तीस मिनट पर उसकी आंख खुली सुबह उठते ही वो अपने शेरलॉक होम्स को लेकर पार्क में टहलने के लिए चला गया वैसे भी अभी कोई केस है ही नहीं को तो ऑफिस पहुंचने की भी कोई जल्दी नहीं है आधे घंटे तक टहलने के बाद वो घर वापस आया और फिर नहाने के लिए चला गया नहाने के बाद विक्रांत ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया उधर अब तक उसकी माँ ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था विक्रांत फटाफट ब्रेकफास्ट करने लग गया इसी बीच में माँ ने बताया कि उसके दोनों मामा को उस किताब के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो जल्द ही किताब के बारे में पता करके बताएंगे विक्रांत ने फिर से माँ को कोई इनाम मिलने का लालच दिया ताकि वो इस किताब को सीरियसली ले माँ ने विक्रांत से आज ही घर वापस जाने की बात कही विक्रांत ने भी उन्हें नहीं रोका बस इतना कहा माँ मुझे किसी भी हालत में वो किताब चाहिए बहुत जरूरी है वो इसके बाद विक्रांत अपने शेरलॉक होम्स के साथ ऑफिस के लिए निकल आया भले इस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स के पास काम करने के लिए कोई केस नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ काम की कमी नहीं थी अभी तक बैंक के रॉबरी केस और सीरियल मर्डर केस की फाइल रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी थी तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स उसे तैयार करने में लगे हुए थे क्योंकि विक्रांत अब टीम लीडर बन चुका है सो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं अब उसे ब्रांच की सारी गतिविधियों पर नजर रखनी होती है केस का रिपोर्ट देखना होता है हायर अप्स के साथ मीटिंग करना होता है और सारी रिपोर्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का भी काम टीम लीडर का ही होता है ऑफिस पहुंचने के बाद विक्रांत लगातार ऑफिशियली कामों में लग गया दोपहर में किसी तरह से उसे लंच करने का टाइम मिला जैसे ही विक्रांत को थोड़ी फुर्सत मिली वो चुपचाप ऑफिस से निकलकर एक रेस्टोरेंट में चला गया वहां पर उसने किसी के साथ मीटिंग करनी थी जब विक्रांत रेस्टोरेंट पहुंचा तो वो शख्स पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मलिक थे मिस्टर मलिक ने पहले से ही विक्रांत के लिए खाना ऑर्डर कर रखा था सो तो जैसे ही विक्रांत यहाँ पर पहुंचा दोनों ने साथ में खाना स्टार्ट कर दिया विक्रांत जी आप हर बार मेरी मदद करते हैं मैं आपका शुक्रिया भला कैसे अदा करूं मिस्टर मलिक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा पहले आपने मेरे बच्चे के बारे में पता लगाकर मेरा बोझ हल्का किया और अब फिर से मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी मैं मैं आपके एहसान तले जिंदगी भर दबा रहूंगा अरे क्या बात कर रहे हैं सर विक्रांत ने बेहद शांत तरीके से जवाब दिया ये सब तो पुलिस का काम है मैंने कुछ स्पेशल थोड़ी ना किया है नहीं सर मैंने सुना है कि आप जब रोनित बनर्जी को अरेस्ट करने के लिए गए थे तब उसने आप पर गोली भी चलाई थी और एनेस्थीसिया का भी अटैक किया था मिस्टर मलिक ने चिंतित स्वर में कहा मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ अगर हमारे बैंक की तरफ से लॉकर अलॉट करते वक्त लापरवाही ना की गई होती तो शायद आपको इतना कुछ ना झेलना पड़ता मलिक साहब हम लोग पुराने दोस्त हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं अब तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं विक्रांत ने जवाब दिया अरे विक्रांत जी ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे आपको पता है मैं इस लड़के को पहले से ही जानता था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये सीरियल मर्डरर निकल सकता है क्या आप आप रोनित बनर्जी को कैसे जानते थे विक्रांत ने खाना बीच में ही रोक कर पूछा अरे इसकी माँ ने ही तो हमारे बैंक में लॉकर सिस्टम शुरू करवाया था तभी से उससे जान पहचान हुई थी उसकी माँ ने बैंक का कुछ शेयर भी खरीदा हुआ था मेरी उनसे अच्छी जान पहचान थी उसके फादर का पहले कपड़े के मिल का बिजनेस था फिर बाद में वो रियल स्टेट का कारोबार करने लगे मैंने भी उनसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी एक दो बार मैं इसके घर भी गया हुआ हूँ तब ये बहुत छोटा था उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर मर्डरर बन जाएगा <laughs> मिस्टर मलिक ने ठंडी आहें छोड़ते हुए कहा सब नियति का खेल है अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो क्या पता आज ये लड़का अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका होता क्या कहें अब मलिक ने थोड़ा दुखी मन से कहा हम्म क्या ही कर सकते हैं अब हम और आप विक्रांत ने भी दुख प्रकट करते हुए कहा हर जुर्म के पीछे बहुत सारा दुख और आंसू छुपा होता है विक्रांत ने सही मौका देखते हुए डीसीपी डिसूजा की कही हुई बात यहाँ भी रिपीट कर दिया मतलब मैं समझा नहीं ये बात मिस्टर मलिक के सिर के ऊपर से निकल गई उन्होंने बेहद उत्सुक होते हुए विक्रांत से इस बेहद खूबसूरत शब्द का मतलब पूछ लिया विक्रांत को भी अब तक इसका पूरा मतलब रट गया था तो उसने भी मिस्टर मलिक को एक सांस में इस बात का पूरा अर्थ में समझा डाला वाह विक्रांत साहब वाह क्या बात है सच कहा आपने हर जुर्म के पीछे किसी बहुत सारे दुख और आंसू छुपे हुए होते हैं मिस्टर मलिक विक्रांत की फिलोसफी सुनकर मोहित हो गए अच्छा आप ये पकड़िए मिस्टर मलिक ने अपनी जेब से एक चेक निकालकर विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा विक्रांत जी एक करोड़ का चेक आपके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि अगर हमारा बैंक इस समस्या से बाहर आ जाएगा तो हम आपको इसके बदले में जरूर कुछ न कुछ उपहार देंगे आपकी बदौलत हमारा बैंक नीलाम होने से बच गया है ऐसे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी स्टॉक होल्डर्स ने मिलकर आपके लिए ये उपहार भेजा है अरे नहीं नहीं मलिक साहब आप गलत समझ रहे हैं विक्रांत ने चेक को वापस उनके हाथ में रखते हुए कहा मैंने आपको आज यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था दरअसल मुझे कुछ और हेल्प चाहिए थी आपसे हाँ क्या हेल्प चाहिए बताइए क्या सेवा करूँ मैं आपकी बस हुक्म कीजिए आप मिस्टर मलिक ने बड़ी शालीनता से कहा विक्रांत ने भी अब बिना कुछ इधर उधर की बात किए सीधे अपनी बात मलिक साहब के सामने रख दी देखे मलिक साहब बात दरअसल ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है जो कि पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग में जिम खोलना चाहता है सब बात वगैरह हो गई थी लेकिन फिर बीच में वहाँ कुछ लफड़ा हो गया था तो मैं सोच रहा था कि अगर आपका वहाँ पर कुछ लिंक हो तो आप जरा इस काम में मेरी मदद कर दें तो विक्रांत ने मिस्टर मलिक की तरफ देखते हुए कहा ओह कोई बात नहीं हो जाएगा वो पैसिफिक कमर्शियल के चेयरमैन से मेरी जान पहचान है बस एक बार उनसे कहने की देर है आप टेंशन मत लीजिए मैं बात कर लूंगा उनसे आपका काम हो जाएगा मलिक ने कहा ओह धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू आपको वैसे रेट की कोई चिंता नहीं है बस किसी तरह से जिम ओपन हो जाए विक्रांत ने कहा हो जाएगा हो जाएगा डोंट वरी मलिक ने कहा विक्रांत साहब ये गलत बात है एक तरफ आप मुझे अपना दोस्त बना रहे हैं और दूसरी तरफ मुझसे बात भी छुपा रहे हैं हम्म, विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा आप चोपड़ा साहब के दिए पैसे से बिजनेस के फील्ड में उतरना चाहते हैं और आप मुझसे ये बात छुपा रहे हैं मलिक ने तुरंत भाप लिया कि विक्रांत अपने बारे में बात कर रहा है ये जिम उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि वो खुद ही खोलना चाहता है अरे नहीं मलिक साहब विक्रांत ने तुरंत ही बात बनाते हुए कहा बस ऐसे ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना अरे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शेयर दिलवा देता हूँ आपको हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट गारंटी है कल ही मैं अपना असिस्टेंट आपके पास भेजता हूँ सब आपको समझा देगा कोई टेंशन ही नहीं है अरे नहीं नहीं अभी मैं सिर्फ ये जिम खोलना चाहता हूँ एक बार ये सफल हो जाए फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा विक्रांत ने जवाब दिया चलिए ठीक है जैसे आपकी मर्जी मलिक ने जवाब दिया अच्छा तो आप ये चेक रख लीजिए ना आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पैसों की जरूरत होगी रख लीजिए इसे काम आएगा अरे नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकता विक्रांत ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा अभी वैसे ही आपकी बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है तो आप लोगों को ऐसे वक्त में मैं भला पैसे कैसे ले सकता हूँ वैसे भी मुझे फ्यूचर में भी आपकी हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी और वो इन पैसों से ज्यादा कीमती होगा <laughs> अरे बिल्कुल विक्रांत साहब बिल्कुल आपकी सेवा के लिए हम हमेशा तैयार खड़े हैं मिस्टर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा चलिए खाना खत्म करते हैं <laughs> मिस्टर मलिक ने अंत में कहा